कार्य से कारण का अनुमान होता है संसार कार्य से उसका मूल ब्रह्म जगत कारण श्रुति प्रमाण सिद्ध है तो उसमें तर्क से भी संभावना श्रवण से जो निश्चय होता है शास्त्र तात्पर्य का निश्चय फिर मनन के द्वारा कैसे संभव है युक्त्या संभावितत्वानुसंधानम युक्ति से कैसे संभव है अनुसंधान करना ही मनन है श्रवण मनन से निश्चय होने पर निधिध्यासन होता है इसलिए कैसे संभव है करके तर्क दिया गया किंतु कुछ वेद बाह्य नास्तिका वेद निंदका वेद निंदा करने वाले वेद के बाह्य है वो कहते कार्य नष्ट हुआ तो शून्य हो गया समाप्त हो गया कुछ रहा ही नहीं कारण कुछ रहा ही नहीं कारण के बिना असत असत से उत्पत्ति नष्ट हो गया तो असत हो गया तो कई सदरूप कारण है ही नहीं जो जगत का कारण होगा उसके भाष्य चलेगा यदिदम किंच यदिदम किंच दो तीन पंक्ति हाँ तो कहते अधितम किंच है ना यदिदम किंच जगत सर्व प्राण एति निश्रितम यदिदम किंच कहते था यत्किंच इदम जो कुछ जगत सर्वम जो कुछ यहाँ दिखता है जितने सब प्राण एजति प्राणे सति एजति प्राणे सति सति सप्तमी है प्राणे का तो परस्मिन ब्रह्मणि परब्रह्म होने पर ही एजति निश्रितम उसी ब्रह्म से प्रकट होकर के उत्पन्न होकर के एजति का कंपते एजिर कंपने तथैव निश्रितम श्री थे के निश्रितम कहते निगृतम उसे निकला हुआ निर्गतम सत प्रचलति एजति का अर्थ कंपते कंपते का अर्थ प्रचलति नियमन चेष्टते नियम पूर्वक चेष्टा करता है जो कुछ सब चेष्टा करते हैं नियमत चेष्टा करते हैं वे ब्रह्म होने से यदेवम जगत उत्पत्ति आदि कारणम ब्रह्म तन महद भयम वज्रम उद्यतम जो जगत उत्पत्ति का कारण स्थिति का भी कारण उपादान कारण से जगत जिसकी उत्पत्ति होती है कार्य घट आदि स्थिति काल में भी उपादान कारण में ही रहता है घट उपादान कारण मिट्टी है उसके बिना घट नहीं रहेगा जो नष्ट होता है तो मिट्टी रूप में लीन हो जाता है घट सुवर्ण भूषण बनाए तो सुवर्ण से उत्पत्ति स्थिति काल में सुवर्ण में आश्रित है नष्ट हो तो सुवर्ण हुआ भूषण नष्ट हो गया सोना तो रहता है इसी प्रकार जगत की जो उत्पत्ति आदि कारण उत्पत्ति स्थिति लय कारण है वही ब्रह्म है तत् महद भयम महच्च तत् भयम चित महद भयम महते सर्वव्यापक और भय कारण भय है महच्च तत् भयम चैति विवेत्य अस्मात् इति भयम भय है भय कारण विवेत्य अस्मा जिससे भय करते भय भय कारण है वज्रम उद्यतम उद्यतम इव वज्रम वज्र को उठा कर रखा है उसको देखकर सब डरते हैं आगे स्पष्ट कर दिया था वज्रोद्यतकरम स्वामिनम अभिमुखी भूतम दृष्ट्वा वृत्य नियमन तच्छासने वर्तन्ते तथेदम चंद्रादित्य ग्रह नक्षत्र तारक आदि लक्षणम जगत सेश्वरम नियमन क्षणमप्य अविश्रांतम वर्तते इति उत्तम भवति वज्र कुठाया कोई आयुध अस्त्र लेकर उठा करके ये तो देखने पर डर लगेगा और स्वामी वज्रोद्यत कर है अभिमुख वज्रोद्यत के उसके ओर आ रहे हैं उसके ओर है देखकर भृत्या नियमन तत्शासन बर्तन थे उसके शासन में अनुशासन में रहते हैं इसी प्रकार तथा एकदम सारे जगते जगत आदित्य ग्रह नक्षत्र तारक आदि लक्षणम जगत चंद्र आदित्य ग्रह नक्षत्र तारका सब जगसेश्वरम ईश्वर न सहित सेश्वरम सब समर्थ है बड़े बड़े सब है इंद्र आदि है नियमेन क्षणमपि अविश्रांतम वर्तते इत्युक्तं भवति नियमेन नियम पूर्वक नियत क्षणमपि अविश्रांत एक क्षण में भी श्रांत नहीं सूर्य उदय के बाद अस्त समय तक अपने व्यापार करते रहते हैं चलते रहते हैं ऐसे चंद्र है तारक नक्षत्र आदि विश्रांत नहीं कोई नियामक है तभी इसे अभिश्रांत नियम पूर्वक कभी विलंब नहीं होता है एक क्षण कभी आराम कर लिया ये नहीं चलेगा बिल्कुल नियमतः यह तद विदु अमृतास्ते भवन्ति जिसको साक्षात्कार कर लेते हो अमृत मुक्त हो जाते हैं मरण रहित हो जाते हैं ये तद विदु स्वात्म प्रवृत्ति साक्षीभूतम एकम ब्रह्मा ब्रह्म अमृता भवन्ति एतद विदु एतद शब्द दिया एतद समीपतरवर्तिनि चैतद रूपम इसलिए एतद कहते हो जो ब्रह्म है स्वात्म प्रवृत्ति साक्षीभूतम अपने प्रवृत्ति का साक्षी तो अंतकरण की प्रवृत्ति होती है बुद्धि आदि में उसको साक्षी उसका साक्षी है बुद्धि में जो चेष्टा होती बुद्धि में प्रवृत्ति बुद्धि में वृत्ति बुद्धि का वृत्ति अभाव का भी साक्षी है बुद्धि में परिणाम होता है वृत्ति परिणाम नहीं तो वृत्ति अभाव बुद्धि का साक्षी है बुद्धि को जो जानने वाला है वही साक्षी है वही ब्रह्म है बुद्धि भिन्न भिन्न होने से लगता है जानने वाला भिन्न भिन्न है जानने वाला एक ही एक ही सूर्य प्रकाश करता है नाना घड़े में प्रकाश संबंध से घड़े में प्रकाश वो अलग-अलग दिखता है क्योंकि प्रकाश का संयोग होकर घट जब दिखता है प्रकाश विशिष्ट दिखता है प्रकाश से भिन्न है प्रकाश के एक ही इसी प्रकार यहाँ भी लगता है सब बुद्धि में आत्मभ्रम होता है चिदाभास के संबंध से बुद्धि अलग अलग होने से आत्मा भिन्न भिन्न है चिदाभास भिन्न भिन्न है बुद्धि में प्रतिबिंबित चेतन चिदाभास भिन्न भिन्न है बिंब रूप चेतन एक है के दर्पण में प्रतिबिंब दिखेगा और तो प्रतिबिंब नाना होने पर भी मुख तो बिंब एक है इसी प्रकार बुद्धि अनेक है अनेक बुद्धि को प्रकाश करने वाला एक ही साक्षी है जो जानने वाला क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत भगवान कहते हैं सारे शरीर में क्षेत्र को प्रकाश करने वाला क्षेत्रज्ञ एक है अहम परब्रह्म वृत्ति साक्षीभूतम एकम ब्रह्म इसको जो जान लेते हैं इसको जानना है किस प्रकार अहम अस्मि करके इदंत नहीं क्योंकि अपना स्वरूप है जो बुद्धि का साक्षी वही अपना स्वरूप है इसको ज्ञान उसका ज्ञान होगा अहम अस्मि इसी रूप से अहम अस्मि परम ब्रह्म ऐसा जो साक्षात्कार कर लेते संशय विपर रहित अमृता भवस्ते भवंती अमृता अमरण धर्मान अमरण धर्म ये शाम ते अमरण धर्मान अमरण धर्म वाले धर्म तो अदंत है किंतु धर्म अदनिच केवलात अनिच समासांत हो जाता है धर्मन होकर के धर्मान अमरण धर्म वाले ते भवंती मुक्त हो जाते हैं कथन तद भया जगद वर्तते इत्याह अभी तो इतने कह दिया उसके भय से सब चेष्टा करते हैं उसके भय से कौन कैसी चेष्टा करता है इसको स्पष्ट करते आगे मंत्र के द्वारा भया दस्याग्निस्तपति भया तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः भयादस्य अग्निस्तपति इसके भय से शासन से अग्नि तपति अपने चेष्टा व्यापार करती अग्नि अग्नि तपति अग्नि स्त्रीलिंग नहीं पुलिंग पुलिंग तो न संस्कृत में अग्नि तपति अग्नि तपति सूर्य भया तपति इसके भय से सूर्य भी तपति सूर्य भी हाँ इंद्रिय स्त्रीलिंग हमको मालूम ना था इसमें हिंदी अर्थ में क्या भय से अग्नि तपता है तप दे हाँ तप दे तिरंगा भया तपति सूर्य सूर्य भय से तपता है भयाद से वायुष्य अपने व्यापार करते हैं ये तपता सबके साथ तपति का नहीं इंद्र भी भय से अपने व्यापार करते हैं वायुश्च भय से मृत्यु धावति पंचम अग्नि सूर्य इंद्र वायु कितने हो गए चार और मृत्यु हो गया पांचवा ये मृत्यु का नाम तो पंचम में आ गया बहुत दूर में तो भी बेचारा दौड़ता रहता है यमराज मृत्यु दौड़ता है धावती विलंब करने का नहीं जब समय आए तब चलो जैसे राज कर्मचारी पुलिस लोग होते जब जाना है दिन रात कभी नहीं चलो दौड़ना है ऐसे मृत्यु धावती इसके भय से कोई नियामक है भयाद समर्थ होते हुए भी भयाद का अर्थ भीत्यास्य परमेश्वर से परमेश्वर के भय से अग्निस्तपति भयातपति सूर्य सूर्य अग्नि इंद्र आदि सब अपने भय से ही अपने अपने व्यापार करते हैं भयाद इंद्र से वायुश्च मृत्यु धावती पंचमा अं, इंद्र वायु यमराज सब न ईश्वराणाम लोकपालानाम समर्थानाम सताम नियंता चेद वज्रोद्यत करवत न स्याद स्वामी भयभीतानामेव भृत्यानाम नियता प्रवृत्ति उपपद्यते ये सब कोई सामान्य नहीं है अग्नि वायु इंद्र सूर्य आदि यमराज ये लोकपाल है ईश्वर है समर्थ है कुछ कुछ उनको दिया गया अलग-अलग ईश्वर है जैसे एक-एक विषय में एक मंडल के ईश्वर होते राजा सम्राट ईश्वर होते हैं इसी प्रकार इंद्र देवराज स्वर्ग में वायु अपने व्यापार में अग्नि अग्नि का कार्य कोई दूसरा नहीं कर सकता है सूर्य भी है ये सब लोकपाल है समर्थ है ईश्वर है ये होते हुए भी यदि उनका कोई नियामक नियंता वज्रोद्यत वत न स्यात् जैसे भृत्य के सामने वज्रोद्यत करो कोई होने से भृत्य नियत प्रवृत्ति लगते हैं बहुत लोग काम करते तो हम जाकर के खाली बैठ जाए तो सब काम में लगेंगे और यदि चले गए सब बैठ जाएंगे लेट जाएंगे बीड़ी पीने लग जाएंगे इसे जहाँ काम कराते हैं वहाँ मालिक बैठते हैं नियता वज्रोदत्त करवत यदि नियंता कोई नियामक नहीं होता जैसे भृत्यों की नियत प्रवृत्ति होती स्वामी भयभीता नाम व भृत्यानाम स्वामी के भय से डर करके जैसे भृत्य नियत प्रवृत्त होते हैं इस प्रकार ये सब की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए प्रवृत्ति न उपपद्यते यदि कोई नियामक नहीं होता नियत प्रवृत्ति होती है कभी नींद लग जाए तो उठने में बड़े-बड़े सम, समझदार व्यक्ति को विलंब हो ही जाएगा किंतु सूर्य चंद्र आदि को ठीक समय पर ज्योतिष शास्त्र में नहीं नहीं तो सूर्य उदय इतने बजे तो इतने बजे चंद्र उदय सब एक समय में होता है अलग-अलग दिन में किस दिन कितने दिन उदय कब अस्त शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष में सब अलग-अलग है तो उसी समय पर उदय अस्त उनका नियम है अपनी इच्छा से थोड़ा देर कर देंगे ये नहीं चलेगा बिल्कुल नियम को कोई है तभी टीका में सूर्यादीनाम नियत प्रवृत्ति अनुपपत्या नियामकत्वेन संभावितम यत पारमेश्वरम रूपम तद अवगमाएव इह यत्न कर्तव्यत्याह सूर्यादि नियत प्रवृत्ति अनुपपत्ति नियता प्रवृत्ति निश्चित प्रवृत्ति होती है जो जैसे जिसका व्यापार समय पर करते हैं विलंब नहीं कभी विश्राम नहीं चलता है अपने व्यापार में लगे सब तो निया उनका कोई नियामक नियम करने वाला कोई है संभव होता संभावितम यत पारमेश्वरम रूपम परमेश्वर से इदम पारमेश्वरम परमेश्वर का स्वरूप कोई परमेश्वर है ऐसा कोई है जिनके भय से सब प्रवृत्त होते समर्थ होते हुए भी वही जो परमेश्वर का स्वरूप तद अवगमा एवं यह यत्न कर्तव्य परमेश्वर का जो वास्तव पारमार्थिक स्वरूप सक्य साक्षात्कार ज्ञान प्राप्ति के लिए अवगमाय एव यह यत्न कर्तव्य बाकी जितने यत्न व्यर्थ है उसके ज्ञान के लिए ही यत्न करना चाहिए ज्ञान प्राप्ति के साधन रूप से जो अन्य प्रयत्न वो तो ठीक है अन्य जो विषय भोग करने के लिए यत्न व्यर्थ है ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ ज्ञान प्राप्ति का साधन वो तो आवश्यक है अवगमाय एव उसके लिए ही जो आवश्यक है ही करना चाहिए अन्य यत्न अन्य व्यवहार छोड़ना चाहिए इतिहास तच्च यह जीवन एवं मंत्र यह चेद असकत बोद्धुम प्राक्षरी रस्य विस्तसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते यह चेद बोद्धुम असकत यहाँ जीते जी यदि उसे परमात्म परमात्म स्वरूप को बोद्धुम असकत समर्थ हो गया जान लिया कब शरीर से विश्वास प्राक शरीर नष्ट होने के पहले प्रयत्न करते करते करते शरीर समाप्ति के पहले यदि जान लिया साक्षात्कार लिया कर लिया समर्थ हो गया तब मुक्त हो जाता है यह अध्ययन करना है और यदि नहीं जान सका तत सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते तब शरीर ग्रहण करने के समर्थ होता है जन्म मरण को प्राप्त करता है सर्गेषु लोकेषु सृज्यमान लोक में सर्वत्वाय तो सर्व ग्रहण करता है फिर जन्म मरण को प्राप्त करता है यही अनादिकाल से कर रहा है चौरासी लाख चक्र घूम रहा है बस चलता रहता है जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण फिर इतने तक तो कहते समय देर होगा इतने जल्दी जल्दी जन्म मरण हिसाब नहीं कर सकते कितने कीड़े मकोड़े होते जन्म मरण में समय नहीं लगता है और अनादि काल से अभी तक जो जन्म मरण हिसाब करें जैसे पंखा आदि घूमते समय धीरे-धीरे घुमा फिर एकदम जल्दी घूमता है तो पता नहीं चलता है इसी प्रकार चक्र में घुमा घूम रहा है अनादि काल से जन्म मरण घूमता रहता है कितने बार कितने करोड़ बार जन्म मरण चक्र घूम लिया थोड़े अवसर प्राप्त होता मनुष्य जन्म में उसमें फिर विवेक बुद्धि होने पर कोई थोड़ा जिज्ञासु होता है उसके बाद प्रयत्न करे तो मुक्त हो सकता है यदि कर लिया तो सार्थक हो गया शरीर मुक्त हो गया नहीं तो ततः स्वर्ग के ततः का तो यदि नहीं कर पाया अज्ञान में रहा तो स्वर्गेश शरीर तो आए सर्व ग्रहण करने के लिए समर्थ होता है वही उसको पुरस्कार मिलता है फिर चक्र में घूमो और चक्र में खाली ऐसे ऊपर जैसे पंखा घूमता ऐसा नहीं नरक भी पेड़ पौधे भी कीड़े मकोड़े भी पशु पक्षी भी सब प्रकार बनता है तच्चैह जीवन एव चेद यदि असकत शक्नोति शक्त सन जानाति एतत् भय कारणं ब्रह्म बुद्धुम अवगन्तुम प्राक पूर्वं शरीरस्य विश्रांसो अपसंसनात् पतनात् संसार बंधनात् विमुच्यते तच्चैह य यह चेद अस यह यहां यहाँ मत जीवन एव जीते जी यह चेद असकत चेत काथे यदि यदि जान ले यदि है अनेक से को अनेक में कोई जान सकता है बहुत नहीं जान पाते हैं प्रयत्न भी नहीं कर पाते हैं जाने कैसे साधन भी बहुत नहीं कर पाते हैं थोड़े दिन आरंभ करके वैराग्य संसार से तो नहीं होता बड़ा कठिन है साधन से वैराग्य बड़े जल्दी हो जाता है बहुत हो जाता है यह चेत असकत बुद्धम यदि जानने के समर्थ हो गया चेत का यदि असकत छंद में असकत से प्रयोग किया है सकनोति यदि जान सकता है सक्तसन समर्थ है समर्थ होकर के जान लेता है किसको जानेगा एतद भय कारणम ब्रह्म ये सब जो अग्निंद्रादि आदि भय से प्रभुत होते भय का कारण जो ब्रह्म है जिसके भय से सब नियत प्रभुत होते हैं भय कारण ब्रह्म है उसको दी बोधुम असकत जानने के लिए समर्थ हो गया बुद्धुम का सवंतुम जानने को समर्थ हो गया कब कितने दिन में प्राग शरीर से विश्रसह शरीर समाप्ति के पहले कभी जान ले प्रयत्न करने पर अभी ज्ञान नहीं हुआ तो छोड़ करके या दूसरे कुछ कर्म करने से नहीं वही करते रहना चाहिए अंतिम तक प्राक का पूर्वम शरीर से विश्रस विश्रसो का तो अवसन सुनाद अधपतन पतनाद मरने के पहले शरीर पतन हो जाता है जितने समर्थ हो जितने बलवान हो समय आता है कभी गिर जाता है समाप्त होने के बाद उसको तो नीचे भूमि में लेटाते हैं शरीर समाप्त हो जाए तो खाट के पर शरीर रहना अच्छा नहीं है खाट के पर शरीर समाप्त होने के अपेक्षा नीचे समाप्त होना अच्छा है पहले तो बड़े सजा सजा सजा करके बड़े, सोते हैं मरने का समय हो जाएगा तो उसको स्वयं कोई कोई समर्थ जानते तो कहते उठ करके नीचे बैठ जाते हैं नीचे लेट जाते हैं कोई किस किस को पता चल जाता है वहाँ के नीचे बैठ के सो के नीचे क्यों बैठे ऊपर बैठना नहीं अभी और इस समय ही बैठना है खट से हट करके नीचे खट में सर्व समाप्त होने की अपेक्षा नीचे सर्व समाप्त होना चाहिए और सर्व समाप्त होने पर उसके खट के ऊपर लेटाएंगे काट जितने समर्थ हो धन संपत्ति वाला हो काट के लेटाना उसके लिए अच्छा नहीं है नीचे लेटा देंगे नीचे लेट गए तो पतन हो जाता है अवश्य ही तो पतनात पहले मरने के पहले यदि जान सकता है जान लिया तो संसार बंधनाद विमुच्यते संसार बंधन है ऐसे बंधन है उसके अंदर लगता है मैं स्वतंत्र है बंधन में होते हुए भी लगता है हम स्वतंत्र है बंधन पता नहीं चलता है नौका में बैठेगा तो हम स्थिर स्थिर बैठे नौका चल रही है गाड़ी में बैठे चल रही अभी यहाँ भी पृथ्वी में बैठे स्थिर बैठे वैज्ञानिक लोग कहीं कितने जोर घूम रहे हैं स्थिर नहीं बैठे पृथ्वी 24 घंटा में एक बार एक चक्र लगा अपने घूम जाती है बहुत जल्दी से चलता है पता नहीं चलता उसमें लता में स्थिर बैठे ही ये संसार बंधन उसे बंधन इसे बंधन होकर के तो घूमना ही पड़ता है घूमता ही रहता है उसे पता नहीं चलता कहाँ कितने जगह कितने स्थान घूमता है कहाँ जाता है आगे कहाँ जाएगा ऐसे पशु को बांध करके लेकर खींच कर लेते हैं जहाँ खींचेंगे वहाँ जाएगा इसी प्रकार ये कर्म उसको खींच कर ले लेते हैं यही बंधन है वो दिखता नहीं पशु को तो बंधन दिखता है कभी-कभी पशु बंधन को हटाना चाहता है किंतु ये जीव का जो बंधन है कर्म बंधन दिखता नहीं किंतु खींच कर ले लेता है ये संसार बंधन से तभी मुक्त होता है यदि स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए ब्रह्म का यदि हो गया तो प्राग शरीर से विशेष तत मुच्यते पूर्वाध हो गया आगे ततः का तो यदि नहीं जान सके न चेद असगत बुद्धम ततः यदि नहीं जान सका तब अनवबोधा ततकात अनवबोधात अज्ञान से सर्गे सुलोकेषु सर्वतया कल्पते सर्गे सृज्यन्ते इति सर्ग सृज्यन्ते येषु षष्टव्यः प्राणिन सृज्यन्ते कहेंगे तो प्राणी होते षष्टव्यः येषु सृज्यन्ते ते सर्गा लोक येषु षष्टव्यः प्राणिन सृज्यन्ते जिन लोक में प्राणी की सृष्टि होती है सृष्टव्य है प्राणी सृष्टव्य प्राणिन सृज्यन्ते ये अधिकरण में घय सृष्ट सृष्टव्य में तव्य प्रत्यय है किसे अर्थ में सृष्टव्य कर्म सृष्टि के कर्म है प्राणी इनकी सृष्टि होती है और सृष्टि होती है जिन में प्राणी की सृष्टि होती है वो लोक हो गए स्वर्ग और स्वर्ग कौन हुआ पृथ्वीआदयो लोका वे लोकेश पृथ्वी आदि लोकेश इसमें जन्म लेगा और कहाँ जाएगा ऊपर स्वर्ग भूर्भुवम महस जन तप नित्य अतल वितल आदि इनमें ही जन्म लेता है तेस स्वर्गेशु लोकेशु शरीरत्वाय शरीर भावाय कल्पते समर्थ होता है जा जब जाता है यही कमा कर लेता है पुण्य पाप धर्म को लेकर जाता है जो कर्म करता है वही साथ में जाता है वही साथ में लेता है और सर्वे ग्रहण करने से क्या सर्वे ग्रहण करेगा कोई निश्चय है भूत प्रेत भी बन सकता है कीड़े मकड़े बन सकता है भेड़ मेढक भी बन सकता है पेड़ भी बन सकता है क्या बन सकता है कोई ठिकाना नहीं नरक भी जा सकता है समर्थ भवती बिल्कुल समर्थ होता है बड़ा अधिकार के साथ जाता है जहाँ जाएगा वहाँ कर्म फल भोगने के लिए वो समर्थ है भोगना ही पड़ेगा भोग का अर्थ केवल सुख नहीं है भोग क्या है सुख दुख अन्यत दुख का भी भोग होता है क्या आए था हाँ हाँ मुंच मुंच वो भी भोग करते हैं तभी चिल्लाते हैं शरीरम गृहणाति शरीरत्वाय कल्पते का अर्थ फिर सृष्टि में लोक में शरीर ग्रहण करता है शरीर ग्रहण करता है मतलब जन्म मरण को प्राप्त करता है टीका में दिया इहेव बुद्धुम शक्तसन इहेव से जानाति तथा मुच्यते इति संबंध यहाँ बुद्धुम शक्तसन यहाँ समर्थ है समर्थ होता हुआ यदि यहाँ ही जान लेता है तो मुक्त हो जाता ही है नहीं तो शरीर ग्रहण करेगा तस्मा शरीर विसंसनात प्राग आत्मबोधाय यत्नार्थेय भगवान भाष्यकार कृपा करके कह देते हैं शिष्य वर्ग को शरीर विसंसनात प्राग शरीर तो समाप्त होगा ही जरूर यहाँ नहीं रह सकते जाना पड़ेगा कुछ भी करे नहीं रहना है इसको भूलना नहीं चाहिए इसको भूल याद रखे तो ये शरीर को छोड़कर जाना है फिर कहाँ जाना पता नहीं तो कुछ भी करे जितने बुद्धिमता करे क्यों जो मिथ्या भाषण करना क्यों दूसरे को कष्ट देना क्यों निषिद्ध कर्म करना एक दिन शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा इसलिए क्या करना चाहिए शरीर विश्रंसनाथ प्राग आत्मबोधाय यत्नात्य आत्मन बोधाय सर्व के ज्ञान के साक्षात्कार के लिए ही यत्न करना चाहिए बाहर बहुत जानना चाहता है कुछ थोड़ा जान करके बड़ा अभिमान होता है हमको कितने आ गया बहुत जानते हैं हम कोई तो देश विदेश खबर जान करके अपने को बड़े बुद्धिमान मानते हैं कोई कोई कहाँ कितने गेहूं होता है कितने धान होता है कितने चावल होता है इसको जानने वाले भी होते हैं ऐसे जानने वाले बता देंगे कोई राज्य का आप कहाँ से अच्छा हमको स्थान है अच्छा वहाँ तो गेहूँ ज़्यादा होता है वहाँ हमको ज़्यादा होता है एक महात्मा थे जहाँ कहाँ का नाम लो वहाँ पहले अच्छा मुख्यमंत्री पहले थे उसके पहले अमुक थे उसके पहले अमुक थे ये कितने बार पीढ़ी बता देंगे उसके पहले मंत्री कौन थे उसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे राज्यपाल कौन था सब उनका कंठस्थ है ये महात्मा थे जहाँ कहीं सुनते ही उसके बारे में बहुत बता दें वहाँ का राज्य में कितने क्षेत्रफल है कितने जनसंख्या है सब उनको मालूम है वो भी विशेष ज्ञान है ये कंठस्थ करके रख याद रखना भी कठिन उनको सब कंठस्थ है पूरा वही जो उनके हिसाब पे रहते कभी कितने जनसंख्या कहाँ बढ़ी कहाँ आत्महत्या ज़्यादा आत्महत्या कर मरते हैं ना साल में कितना आत्महत्या करते पिछले साल कितने करते थे उसमें महिला कितने पुरुष कितने सब हिसाब उनके पास है ये भी रखने वाले होते हैं शास्त्र पढ़कर जाने वाले भी होते हैं कुछ कुछ जानने भी कितने विषय में नृत्य संगीत संगीत जानने में होते हैं नृत्य करने में कितने विषय बहुत विषय थोड़ा थोड़ा किसमें आ गया बड़ा घमंड अहंकार होना बड़ा सरल है छोड़ना कठिन है चाहिए अहंकार छोड़ना छोड़ना है जितने हैं अहंकार को छोड़ना है किंतु बढ़ना बढ़ाना बढ़ाना इसे पता नहीं ये शरीर समाप्त होता है इसको याद रखना चाहिए शरीर समाप्त तो जाना पड़ेगा और उसके बाद कहाँ जाना पड़ेगा अपने ना कुछ नहीं चलता है वहाँ बुद्धिमता काम नहीं करेगी कर्म के अनुसार जाना पड़ेगा इसलिए क्यों गलत मार्ग में गलत कर्म क्यों करना यही करना आत्मबोधाय यत्नार्थय आत्मनबोधा स्वस्वरूप बोध के लिए बाहर जानने के लिए प्रयत्न करना जरूरत नहीं अपने स्वरूप को जानना बाहर संसार को ठीक करना नहीं अपने मन को ठीक करना मन को ठीक करना मन को ठीक करना कठिन होता है दूसरे में दोष दिखता है अपने में दोष नहीं दिखता है संसार का सुधार कोई नहीं करेगा ये नाटक है परमात्मा ने रचना की ये चलेगा अपना कल्याण वही बुद्धिमता है अपने मन को ठीक रास्ता में चलाए आत्मबोध के लिए यत्न करे प्रयत्न कोई करेगा तो अवश्य प्राप्त करेगा प्रयत्न करना पड़ेगा और वो प्रयत्न कब तक तो करना पड़ेगा साक्षात्कार होने तक तो उसमें ही लगना और कुछ नहीं तभी कुछ होगा यत्न नहीं करने से सामान्य लौकिक कार्य भी नहीं हो पाता है ये पारमार्थिक ब्रह्म साक्षात्कार कैसे होगा जो नहीं पढ़ेगा सामान्य नहीं पढ़ेगा तो कितने देर लघु कम का संज्ञा प्रकरण पूरा हो जाए बोलो कोई जानते बताओ कितने दिन हो जाएगा संज्ञा प्रकरण बोलो जिसको मालूम है बताओ नहीं अभी प्रश्न इसलिए तो प्रश्न करते हैं अभी सुना नहीं समझा नहीं आपने प्रश्न क्या है मालूम नहीं पढ़ेगा तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा कितने दिन होगा बोलो आचार्य भगवान शिव जी बने और शिष्य भी बहुत नचिकेता जी से बन जाए नहीं पढ़ेगा तो कितने दिन में हो जाएगा नहीं पढ़ेगा तो बूढ़ा होकर मरने को तक भी अयुण रेले की ये भी नहीं आएगा बहुत लोग है बहुत बड़े-बड़े कवि मैं कहा सुखा अयुण रेले सब बड़े-बड़े होते ये क्या चीज बोलते हैं ये क्या मंत्र है <laughs> कोई कहते है सर्प जो मंत्र जड़ाने के लिए बिच्छू मंत्र जड़ाने के लिए क्या चीज है सबको मालूम है अयुण रेले की बहुत बड़े सत्संग बैठते मैं कहा बोलो अयुण रे लिख ए ओंग तो सब कहते क्या है ये अयो जब गड़ दस कहते तो सही क्या है जब जो नहीं पढ़ा है उनको सुन कर क्या चीज है वर्ण तो सब अय क ख ग ग सब को मालूम है अ ख फ छ ठ थ च ट त डर जाते हैं लोग ये क्या चीज है ये तो करना तो दूर की बात है ये नहीं प्रयत्न करते इतने भी नहीं होता है और जो प्रयत्न करता है लघु कौमुदी सिद्धांत कौमुदी महाभाष्य व्याकरण न्याय कितने पढ़ लेता है प्रयत्न सोता तो एक दिन में हो जाता है थोड़ा थोड़ा लगने से कितने हो जाता है नहीं करे तो कुछ नहीं होता है इसी प्रकार परमात्मा प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करेगा प्राप्त कर सकता है लगेगा उस मार्ग में चलेगा तो नहीं करेगा तो कहां जाएगा नीचे जाएगा अधपतन होगा ये भगवान भाष्यकार यहां कहते हैं यही करना है यत्न करना चाहिए आत्म साक्षात्कार करने के लिए अभी कहा था समर्थ हो करके जो जान लेता है क्या समर्थ है यहाँ ज्ञान होने के लिए सामर्थ्य है समर्थ है ये मनुष्य जन्म प्राप्त करने पर यहाँ ज्ञान होता है यहाँ सामर्थ्य है जो अन्य लोक में बड़ा कठिन है देखो वासी में आगे दिया यस्माद यैव आत्मनो दर्शनम आदर्शस्यैव मुखस्य स्पष्टम उपपद्यते न लोकांतरेषु ब्रह्मलोकाद अन्यत्र सच दुष्प्राप कथमिति उच्यते यस्माद यैव आत्मनो दर्शनम यह मतलब मनुष्य देह में मनुष्य शरीर में रहते ही आत्मन दर्शनम दर्शन का था आंख से देखना नहीं ज्ञान आत्मा बारे द्रष्टव्य कहा गया ज्ञान के लिए दर्शन आत्मा का साक्षात्कार ये मनुष्य जन्म में स्पष्ट होता है कितने स्पष्ट आदर्शस्यैव मुखस्य स्पष्टम उपपद्यते आदर्श दर्पण मुख का वो मुख को देखने के दर्पण सामने रखते हैं मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है आदर्शस्य मुखस्य इव स्पष्टम दर्पण में स्थित मुख का जैसे स्पष्ट दर्शन होता है दर्पण में स्थित मुख का दर्शन स्पष्ट जैसे होता है ऐसे ही आत्मा का ज्ञान स्पष्ट होता है ये मनुष्य जन्म में मुख को देखने के लिए क्या लेना पड़ता है दर्पण है और दूसरा कोई साधन है दर्पण के अपेक्षा दूसरा कोई साधन है पानी खड़ग आदि में तो और अस्पष्ट दिखेगा दर्पण जितने स्पष्ट है पानी में इतने स्पष्ट होगा और खड़ग में थाली में कटोरी में देखो थाली में स्टील के थाली नया लाओ उसमें देखेगा नहीं तो मुख को गोला दिखेगा थाली यदि गोला है ना मुख ऐसे हो जाएगा कहीं कहीं चेपटा दिखता है कहीं लंबा दिखेगा ग्लास में देखो ऐसा लंबा दिखेगा मुख और कहीं इतने चपटा दिखेगा ये दर्पण में स्पष्ट होता है दर्प आदर्श तस्य मुखस्य यथा इव का अर्थ जिस प्रकार स्पष्ट होता है इसी प्रकार मनुष्य शरीर में रहते हुए दर्शन स्पष्ट होता है न लोकांतरेषु अन्य लोक में ऐसे दर्शन नहीं होता है देवता लोगों स्वर्ग में देवता लोग को ज्ञान तो बहुत है बहुत जानते समझदार है हम पढ़ पढ़ कर जितने जानेंगे उनको सब मालूम है किंतु भोगासक्त होते हैं वैराग्य नहीं होता है तो ज्ञान नहीं होता है और वहाँ इतने स्पष्ट नहीं होता है लोकांतर लोकांतरिषु अन्य लोक में इतने स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है क्योंकि वहाँ भोग करने के लिए जाते हैं भोग ही होगा कहीं तो स्वर्ग में सुख भोग या नरक में दुख भोग भोग करते करते इतने उसमें मस्त रहते हैं कहीं सुख से नाचते हैं दुख से कहीं रोते हैं ज्ञान क्या होगा एक केवल ब्रह्म लोक में स्पष्ट ज्ञान होता है इसकी अपेक्षा लोक में जितने ज्ञान होता है स्पष्ट उसकी अपेक्षा ब्रह्म लोक में और स्पष्ट होता है ब्रह्मलोकात अन्यत्र लोक छोड़ करके अन्यत्र ऐसे स्पष्ट दर्शन नहीं होता है जिस प्रकार मनुष्य शरीर में होता है तो सब सोचें अच्छा है तो ब्रह्म लोक चल जाएंगे तो वहीं दर्शन करेंगे यह भी क्यों जल्दीबाजी क्यों अच्छा वहां वहाँ यदि स्पष्ट होता है तो ब्रह्म लोक जाएंगे ब्रह्म लोग जाएंगे अपनी इच्छा से नहीं होता है सच दुष्प्राप उसको प्राप्त करने के लिए भी विशेष उपासना विशेष कर्म करने से ब्रह्म लोग की प्राप्ति होती है इच्छा मात्र से नहीं है सच दुष्प्राप ऐसा नहीं कि बिना टिकट गाड़ी में ट्रेन में बैठे तो वहाँ पहुँचा लेगी ऐसा नहीं साधु लोग दौड़ जाते हैं ना जहाँ भी ट्रेन में बैठो पहुँच जाएंगे ब्रह्म लोग को जाने के लिए ऐसा नहीं है विशेष उपासना के बिना दुष्प्राप इसलिए मनुष्य जन्म में ही प्रयत्न करना चाहिए बड़े भाग्य से प्राप्त होता है कैसे यहाँ जन्म होता है दर्शन यही कहते श्रुति कहती है श्रुति मंत्र ये तो भगवान भाष्यकार ने पहले कह दिया उसको श्रुति कहती स्पष्ट यथा दर्श्य तथा आत्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथा सुपरिवदृशे तथा गंधर्वलोके छाया रिव ब्रह्मलोके लोके यथा आदर्श तथा आत्मनि दर्पण में जैसे दिखता है मुख इसी प्रकार आत्मनि यही मनुष्य जन्म में अंतकर्ण में ऐसे ज्ञान होता है अंतकर्ण है आत्मनि का अर्थ तो अंतकर्ण बुद्धि शुद्ध दर्पण को भी दर्पण में मैला लगा है तो साफ नहीं दिखेगा दर्पण को मैला घोटा दो साफ कर दो साफ दिखता है इसी प्रकार बुद्धि दर्पण के जैसे निर्मल स्वच्छ कर दे तो ऐसे दिखता है बुद्धि में साक्षात्कार होता है इसलिए सर्वव्यापक आत्मा होने पर भी हृदय से अर्जुन तिष्ठति हृदय से में हृदय में वहीं उसकी अभिव्यक्ति हुई साक्षात्कार होता है जैसे दर्पण में स्पष्ट दिखता है मुखो ऐसे अंतकण में स्पष्ट दिखता है ज्ञान होता है आत्मा ब्रह्म का और पितृलोक में दर्शन तो होता है किंतु यथा स्वप्ने तथा पितृलोके स्वप्न भी पदार्थ दिखते हैं इसी प्रकार पितृलोक में दिखते हैं स्वप्न देखते समय सब लगता है जगते जगने के बाद सब हल्का हल्का करके बहुत भूल जाते क्या क्या देखा स्वप्न देखते समय सुख दुख अनुभव होता है उठने के बाद कितने समय याद रहता है फिर पता नहीं चलता धीरे-धीरे कम हो जाता है इसी प्रकार पितृलोक में दर्शन होता है स्वप्न में जैसे दर्शन इसी प्रकार यहाँ दर्पण में देखो तो साफ होता है सपने में कुछ देखा कभी उल्टा पाल दिख जाता है सपने में तो ऐसे देखा तो कुछ भी दिख सकता है इसी प्रकार यथा अपसु परिवर्तित दृश्य तथा गंधर्व लोके गंधर्व लोके में आत्मा का ज्ञान होगा यथा अपसु परिदृश्य ददृश्यव जल में जैसे मुख दिखता है जल में देखो भी थोड़ा दिखता है किंतु उससे जल में क्या है मुख में कोई चिन्ह है क्या है तो दिखेगा नहीं दिखेगा दर्पण में दिखता है अपना मुख दिखता है दर्पण अं, जल में दूसरे आंख में तो कोई दिखता है दिखता है वह है किंतु दर्पण में जैसे स्पष्ट नहीं होता यथा परिदृश्य जल में जैसे दिखता है इसी प्रकार दिखता है गंधर्व लोक में गंधर्व लोक में और निकृष्ट है पितृलोक में थोड़ा दिखता है सपने जैसे वैसे दिखता है अब मनुष्य को जैसे साक्षात्कार दर्पण में ऐसे कहीं नहीं और छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके लोक में छाया और आतप छाया आतप सूर्य किरण जैसे स्पष्ट ही दिखता है इसी प्रकार लोक में स्पष्ट ज्ञान होता है विशेष उपासना कर्म करे जो ब्रह्मलोक लोक जाते हैं बहुत दीर्घ काल ब्रह्मलोक में रहेंगे परमात्मा के उपदेश से उनको ज्ञान होता है तो स्पष्ट ज्ञान होता है ब्रह्मलोक में किंतु ब्रह्मलोक दुष्प्राप है सरल से प्राप्त नहीं प्राप्त नहीं होता है कथमित उच्यते यथा दर्शे प्रतिबिंब भूतम आत्मान पश्यति लोको आदर्श दर्पण में अपने को देखता है मनुष्य किसको देखता है प्रतिबिंब भूतम आत्मान अपने को देखता है प्रतिबिंब रूप दर्पणे प्रतिबिंब दिखता है प्रतिबिंब स्वरूप अपने को देखता है मुख देखता है दर्पण में कैसे देखता है अत्यंत विविक्तम स्पष्ट दिखता है नाक कहाँ ना कहीं चिन्ह है कहीं बाल है कहीं कुछ पोड़ा निकला सब दिख जाता है कुछ वहीं मैला लगा मुख दस्ता दिखता है तथा यह आत्मनि इसी प्रकार आत्मा में आत्मा का अंतकरण में सब बुद्धो बुद्धि में बुद्धि में दिखता है कैसे दिखेगा दर्पण जी मैला है देखो कैसे दिखता है मुख दर्पण मैला है तो देखो मैला मुख साफ दिखता है इसी प्रकार बुद्धि में दिखेगा क्या बुद्धो आदर्शवत निर्मलीभूतायाम दर्पण के समान निर्मल होने पर ही बुद्धि में दिखेगा दर्पण भी निर्मल नहीं हुआ मैला हो तो साफ नहीं दिखता है इसी प्रकार बुद्धि को निर्मल करना पड़ता है मल रहित होने पर स्वच्छ होने पर दिखता है विवेकतम आत्मन दर्शन भवति स्पष्ट है आत्मा का साक्षात्कार अं-, बुद्धि में होता है अंतकण बुद्धि स्वच्छ होने पर यथा स्वप्ने स्वप्न में तो दिखता है जैसे दर्पण में से विविकता नहीं साफ स्पष्ट नहीं अविविकतम क्योंकि स्वप्न में जो दिखता है जागृत वासन उद्भूतम जागृत कालीन जो अनुभव करता है इस जन्म का भी किसी जन्म का भी हो वासना संस्कार होता है उससे कुछ दिखता है उद्भूत होता है जैसे स्मरण कुछ करते हैं स्मरण करते हैं नहीं होने पर भी ऐसा लगता है और उस समय सपने में सामने दिख जाता है इतने किंतु इतने स्पष्ट नहीं होता है जागृत जैसे सपने में दिखते वासना से उद्भूत होकर दिख जाता है विषय है ही नहीं कुछ बाहर दिखता है सपने में केवल तथा पितृलोके पितृलोक में इसे अविविक्तमेव दर्शन आत्मन विविक्त नहीं स्पष्ट नहीं होता पितृलोक में आत्मा का दर्शन तो हो सकता है किंतु स्पष्ट नहीं अस्पष्ट क्यों स्पष्ट नहीं होता है पितृलोक में तो स्वर्ग के अंतर्गत उनको तो थोड़ा अच्छा ज्ञान है जानते हैं सब अच्छा दर्शन होना चाहिए नहीं होता है क्यों नहीं होता है कर्म फल भोग आसक्तत्वाद कर्म फल उपभोग करने के लिए जाते हैं उसमें भोग में आसक्त रहते हैं जो जाते हैं वहां जाते हैं इसलिए कर्म फल भोगने के लिए कर्म का फल कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक स्वर्ग आदि प्राप्ति होती विद्या उपासना से कर्म से पितृलोक वहां भी कर्म पुण्य कर्म से फल भोग करते हैं भोग आसक्त होते हैं केवल पितृलोक में नहीं जो यहाँ भी भोगासक्त होता है उसको तो ज्ञान नहीं होगा भोग में आसक्ति का त्याग यही तब उस छोड़ करके संयम करना पड़ता है इंद्रिय संयम भोगासक्त होने से ज्ञान नहीं होगा शरीर धारण करने के लिए भोजन किया जाता है जीवा के लिए नहीं कोई कोई कहते क्या पेट भरने के लिए थोड़ी खाना है पेट भरने के नहीं है किस लिए चाटने के लिए स्वाद लेने के लिए स्वाद लेने के लिए नहीं देह धारण करने के लिए खाद्य मिला बाकी धात साधन करना है तभी साधु बन जाते सो छोड़ करके भिक्षा करके एक बार खा लिया मां करके फिर अपने भजन करो आगे के लिए चिंता नहीं शाम को क्या काल को क्या खाएंगे भूख लगती है तो चले जाओ मांगो मांगो मिला थोड़ा खा लिया यही है बिल्कुल इंद्रिय संयम करना पड़ता है भोगासक्त होने पर दर्शन नहीं होता इसलिए भोग प्रारब्ध के अनुसार मिलता है जितने मिलता है किंतु ये होना चाहिए उसके बिना नहीं चलेगा ऐसा होना चाहिए ये सब भावना नहीं जैसे शरीर धारण होता है स्वास्थ्य के लिए सत्व गुण बढ़े अंतगुण शुद्ध हो ऐसा भोजन होना चाहिए रजोगुण तमोगुण बढ़ने वाले खाद्य खाएगा तो कहाँ बैठेगा अधिक रजोगुण तमोगुण खाद्य खाएगा तो राजस तामस स्वभाव हो जाएगा राजसी तामसी वृत्ति हो जाती है सत्व गुण अधिक नहीं हो तो ज्ञान साधन नहीं होता है इसलिए पितृलोक में कर्म फल भोग आ सकता है यहाँ भी भोग में आसक्त हो तो ज्ञान नहीं होगा इतने ध्यान रखने का है भोग तो है प्रारब्ध मिलेगा करना जितने खाद्य खाना जो जैसे भोग चाहिए जितने से चल जाता है किंतु भोग में आसक्ति ज़्यादा नहीं यथा च अप्सु अविविक्त अवयवम आत्मरूपम परिवतादृश्य परिदिशतैव जल में देखो अविभक्त अवयव उसमें अवयव अलग-अलग नहीं दिखता है जल में देखो तो नाक कान आंख अलग-अलग नहीं दिखता है ऐसे मुख दिखे थोड़ा जल में देखो सब दिखेगा दिखता है उसमें कहाँ मुख कहाँ नाक कहाँ कुछ दिखता नहीं इसी सब एक दिखता है अभिभक्त अवयवम और उसमें कहें फोड़ा निकला कुछ है तो जल में देखो कहाँ दिखता है कुछ नहीं परिदृश्य परिदृश्यते दिखता जैसे इसी प्रकार गंधर्व लोक में अविवेकतम एवं दर्शन में आत्मा न आत्मा का ज्ञान अविवेक्त स्पष्ट स्पष्ट नहीं होता है ये दो तीन नाम ले लिया पितृलोक गंधर्व लोग एवं च लोकांतरे सभी शास्त्र प्रामाण्यात अवगम्यते अन्य लोक में भी आत्मा का ज्ञान हो सकता है दिखता है शास्त्र प्रामाण्यात शास्त्र से प्रमाणत्वात् शास्त्र प्रमाण से ज्ञान होता है अन्यत्र ज्ञान होता है किंतु स्पष्ट नहीं है यहाँ स्पष्ट होता है दर्पण में जैसे दिखता है ऐसे ही और छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके छाया तपयरिव अत्यंत विवितम दर्पण के अपेक्षा स्पष्ट और स्पष्ट होता है ब्रह्मलोक में छाया और आतप छाया और सूर्य किरण प्रकाश स्पष्ट दिखता अलग-अलग अत्यंत ब्रह्म ब्रह्मलोके एव एकस्मिन् एक केवल एक ब्रह्मलोक में और स्पष्ट होता है दर्पण तो विविक्तम स्पष्ट ब्रह्मलोक में अत्यंत विवेतम और स्पष्ट होता है ब्रह्म लोक में एकस्मिन सच दुष्प्रापो अत्यंत विशिष्ट कर्म ज्ञान साध्यत्वाद सामान्य कर्म से ब्रह्म लोक प्राप्त नहीं होता है सामान्य उपासना से भी नहीं है अहंग्र उपासना ब्रह्म उपासना प्राण उपासना आदि करे बहुत उपासना करने से उपासना काली थोड़े समय करने से नहीं उपासना करके तन में हो जाए जैसे संवर्ग उपासना करता था ब्रह्मचारी को इतना अभिमान हो गया मैं प्राण हूं भिक्षा करने जाता है तो अपने को संवर्ग प्राण हिरण्यगर्भ रूप मानता ऐसे अभिमान होने तक उपासना अत्यंत विशिष्ट कर्म फल कर्म ज्ञान साध्य ज्ञान कहते हैं उपासना अश्वमेध आदि कर्म कुछ करे कर्म करके स्वर्ग जाता है ब्रह्मलोक तो ज्ञान होना निश्चय नहीं है उपासना कर्म समुच्चय अथवा केवल उपासना करके अहंग्र उपासना करे ब्रह्मलोक जाए तो वहाँ ज्ञान हो सकता है दुष्प्राप सरल से प्राप्त नहीं होता है तस्मा आत्मदर्शनाय एव यत्न कर्तव्य तो अभिप्राय यही श्रुति का अभिप्राय श्रुति भगवती उपदेश करती है आत्मदर्शन साक्षात्कार करने के लिए ही यत्न करना चाहिए यही अभिप्राय है कथम असबोधव्य किम तद अवबोधे प्रयोजनम इति उच्यते कथम असो बोद्धव्य असो आत्मा कथम बुद्धव्य उसका ज्ञान कैसे होगा किस प्रकार क्या साधन जानना चाहिए जानना चाहिए ठीक हम भी जानना चाहते किंतु कैसे जानना चाहिए क्या करना है कोई कार्य प्राप्त करने के लिए साधन करना पड़ता है यहाँ भी साधन क्या-क्या साधन है सब जानने पर साधन इकट्ठे करना है जान करके क्या-क्या साधन साधन गीता में क्या अमानित्व अदम्बितम महिषा क्षांतिराजम आदि श्लोक में पढ़ करके याद रख करके एक एक सब होना चाहिए पहला साधन क्या है अमानित्वम मानित्व क्या है मानन मान मत सम न कश्चित मेरे समान कोई दूसरा है नहीं ये मा तस्य भाव मानित्वम उसका अभाव अमानित्वम अपने में उत्कर्ष आरोप करके अपने को बड़ा मानना बड़ा क्या है बड़ा तो आत्मा सबसे बड़ा ही है कि जो स्वरूप है सबसे बड़ा है उससे अतिरिक्त सब मिथ्या है तो किससे फिर बड़ा कहेंगे उसको आत्मा सब सबसे बड़ा है ना नहीं आत्मा बड़ा है व्यापक किसके अपेक्षा बड़ा है अनात्मा के अपेक्षा बड़ा है अनात्मा से बड़ा है दूसरे आत्मा से बड़ा है क्या दूसरे आत्मा है ही नहीं अनात्मा से मिथ्या से जड़ से बड़ा है बड़ा किससे जड़ से जड़ से मतलब जो है नहीं मिथ्या वस्तु से बड़ा है सत्य वस्तु से नहीं सत्य है कि आत्मा सबसे बड़ा है उसमें फिर मैं बड़ा मेरे से समान कोई नहीं ये भावना करने का है ही नहीं कोई दूसरा है ही नहीं किसको बड़ा छोटा कहेंगे और अनात्मा में अनात्मा में क्या बड़ा है क्या छोटा है अच्छा जीव में कौन उम्र ज़्यादा किसको कोई बहुत उम्र का हो गया कोई छोटा है बड़ा है छोटा है अनादिकाल से सब है किसकी उम्र ज़्यादा है बड़ा कौन है छोटा बड़ा कुछ है अनादिकाल से हिसाब करो अभी जो पैदा हो रहा है जिसका उम्र 80 60 50 हो गया और एक पाँच साल का बड़ा कौन है ये बड़ा है इसी शरीर में बड़ा छोटा है अनादिकाल शिक्षा करेंगे तो कौन बड़ा है बड़ा छोटा कुछ नहीं अच्छा आत्मज्ञान नहीं हुआ तो क्या बड़ा बड़ापन है बड़ापन किसको कहेंगे इसलिए जो मानित्व तो ये सबसे बड़ा है पहले गीता में भगवान ने रखा है ज्ञान साधन में पहला साधन अमानित्वम उसके बाद अंतभित्वम दम्भ अमानित्वम इसी प्रकार साधन सब इकट्ठे होने पर कार्य साध्य होगा कोई भी साध्य के लिए साधन इकट्ठी करना पड़ता है भोजन बनाओ कहते ही जाकर आग जला दिया चूल्हा जला दिया भोजन बनाओ तुरंत गैस जला दिया बन जाएगा भोजन <laughs> बर्तन भी नहीं पानी भी नहीं ना चावल आटा है ना सब्जी भोजन बनाना है तुरंत जाकर गैस जला दो फिर लेकर बर्तन एक रख दो थोड़ी देर बाद में लेकर पानी डाल दो नहीं तो तेल है तो तेल डाल दो उसके बाद और कुछ है नहीं बन जाए कितने समय में साधन सब इकट्ठी करना पड़ता है तभी इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या साधन है कथम असबोधव्य अच्छा बोधन होता किंबा तद अवबोधे प्रयोजन ये भी जान करके नहीं प्रयोजन अनुद्देश्य मंदोपि प्रवर्तते कोई प्रवृत्त होता कुछ करने के लिए उसे मिलेगा क्या प्रयोजन क्या है बिना प्रयोजन जान करके सामान्य व्यक्ति भी प्रयत्न नहीं करता है कुछ करने से लाभ है नहीं प्रयोजनम अनुद्देश्य प्रयोजन उद्देश्य नहीं करके नहीं जान करके पे नहीं प्रवर्तते सामान्य मंद बुद्धि वाला भी प्रवृत्त नहीं होता है वो जानेगा करने से कुछ लाभ है क्या लाभ है तो खुश होकर चलेगा चलो करें हम भी करेंगे इसलिए पहले प्रयोजन तद अवबोधे प्रयोजन कि ज्ञान होने पर क्या फल मिलेगा उसको भी इसे तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम गीता में आया अंत में तत्व ज्ञान का प्रयोजन उसको भी विचार करें ज्ञान साधन में अमानित मध्यमित्व से लेकर के तत्व ज्ञानार्थ दर्शन भी कहा तत्व ज्ञान का अर्थ तत्व ज्ञान का प्रयोजन क्या उसको भी विचार करें ब्रह्म ज्ञान का क्या फल है उसको भी विचार करें थोड़े विचार करने पर फिर इच्छा होगी हमको भी चाहिए वो फल क्या है पता नहीं तो कोई बोलेंगे क्या ब्रह्म ब्रह्म करते ज्ञान हो गया तो क्या हो गया कुछ लोग ऐसे चिढ़ते हैं है क्या वेदांत हमेशा ही क्या हो जाएगा किसको किसको ज्ञान हुआ कहाँ ज्ञान हो जाता है एक महात्मा था बोलते क्या ब्रह्म ब्रह्म कहते ब्रह्म ज्ञान होता तो क्या हो जाएगा डांड कर सब क्या हो जाएगा बोलो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा क्या मुक्त क्या मुख्य है मुख्य हो जाएगा तो क्या हो गया फिर अब क्या बोलोगे <laughs> ब्रह्म ज्ञान तो क्या हो जाएगा मोक्ष मोक्ष होता क्या हो गया और क्या करना है और बाद में भागवत क्या फिर गृहस्थ बन गया ऐसे जो बोलता था जो एक था ऐसा है हाँ? क्या ऐसे बोलता था बोलता था क्या होगा बाद में भागवत कथा करने लगा फिर गृहस्थ बन गया फिर बच्चे को भी भागवत सिखाया प्रयोजन समझने पर ही उसमें प्रवृत्ति होती है आगे मंत्र में ही कहेंगे कैसे ज्ञान होगा उसका प्रयोजन ज्ञान का प्रयोजन क्या है ओम सना सनाववतु सहनौ भुनक्तु